जीत फिक्स जब तुम किसी इंसान से सच बोलो और बदले में तुम्हें सुनने को मिले कि भाड़ में जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाड़ में जाओ तुम मेरे लिए मर गए हो भाड़ में जाओ तुम इसी लायक हो तुम कुछ नहीं कर सकते अभी साबित करो कि तुम सही हो जब पूरी दुनिया एक साथ ऊंची आवाज में तुम्हें बोले कि भाड़ में जाओ तो भी तुम चुप रहना क्योंकि तुम पचास हजार लोगों के बीच में खेलने वाले क्रिकेटर हो देखने वालों का काम है चिल्लाना तुमने अगर रिएक्शन दी तुम्हारा विकेट खो जाएगा वो तुम्हें भाड़ में जाने को बोले तो इग्नोर करना तुम्हें अच्छा बताए तो भी मत चढ़ना तब भी विकेट खो दोगे तुम तुम्हें घटिया बताए तो मत रोना बाउंसर हिट कर देंगे क्योंकि तुम जिंदगी के पिच पर तुम्हारी चुनौतियों के खिलाफ वर्ल्ड कप खेल रहे हो और इस गेम में तुम अकेले बैट्समैन हो कदम कदम पर आउट करने की अपील करने वाले बहुत सारे लोग हैं कदम कदम पर मेंटली टॉर्चर करने वाले बहुत हैं ऑडियंस में कोई भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है लेकिन इस गेम में सिर्फ दो लोग ईमानदार हैं एक तुम और एक वो जो कहीं दूर से बैठ के इस गेम को जज कर रहा है वो सही को सही बताएगा और गलत को गलत तुम उसके गलत को सही नहीं कर सकते उसके सही को गलत भी नहीं कर सकते जो उसने डिसीजन लिया वो सबको मानना पड़ेगा और वो है इस गेम का एम्पायर जो खुद खुदा है जो तुम्हें तब तक आउट नहीं बताएगा जब तक तुम हो नहीं जाते वो जब तक तुम्हें विजेता नहीं बनाएगा जब तक तुम बन नहीं जाते जब तुम इतने सारे लोगों के खिलाफ नर्वस रहोगे तब भी वो तुम्हें देखेगा फिर जब तुम चुनौतियों की हर एक लहराती गेंद को अपनी छाती पर टकराने से पहले ही रोक लोगे तब भी वो तुम्हें देखेगा तब उसको एक हल्का एहसास होगा कि यार इस बंदे में कुछ है जो उन लोगों को जो इसको भाड़ में जाने के लिए बोल रहे हैं उनको ये बात से नहीं अपने एक्शन से जवाब दे रहा है अपनी कठोर मेहनत से जवाब दे रहा है लोगों की भाड़ में भेजने वाली आवाज अब भी तुम्हारे कानों में गूंज रही होगी अगर तुम्हारी हिम्मत ना हो उनको देखने की तो मत देखना उनको अगर तुम्हारा मन ना हो उनको देखने का तब भी मत देखना लेकिन चुनौती की डर की ललकारने की हर एक गेंद का जवाब देना अपनी सोची समझ समझी सटीक बैटिंग से मैदान का तापमान 50 डिग्री भी हो तब भी मत रुकना तेज सरसराती हवाएं भी चल रही हो तब भी ध्यान सिर्फ चुनौतियों पे होना चाहिए धीरे धीरे तुम्हारे पैर जिंदगी की पिच पर जमना शुरू हो जाएंगे लेकिन दर्शकों की नजरों में अब भी तुम खटक रहे होंगे लेकिन वो दूर बेटा हुआ एम्पायर तब तक तुम्हें अपनी आंखों में थोड़ी सी जगह दे चुका होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अब भी हारे हुए इंसान को विजेता का नाम दे देगा उसकी नजरों में अब भी जीत का मतलब जीत है हार का मतलब हार है अब भी तुम्हें अपनी ही हिम्मत से काम लेना है धीरे धीरे तुम आगे आने वाली बॉल का अंदाजा लगाना शुरू कर दोगे क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बॉलिंग करने वाले कुछ सिलेक्टेड लोग ही होंगे तुम पहले से ही अपने आप को उस पोजिशन में ले आओगे जहां पर वो चुनौती की बॉल आने वाली है बहुत समय बाद तुम्हारी एक बाउंड्री लगेगी तुम्हें भाड़ में भेजने वालों को सांप सूंघ जाएगा जैसे मानो उनकी जिंदगी के मैदान में कोई बम फूट गया हो उनके घर शायद उस दिन जलन की वजह से खाना नहीं बनेगा तब तुम एक लंबी सांस भरना और बोलना कि अभी तो बस शुरुआत है मेरा मुकाबला मुझे भाड़ में भेजने वालों से नहीं मेरा मुकाबला तो मेरी हाथों की लकीरों से है जिनको बनाने वाला भी आज मेरे बारे में सोच तो रहा होगा कि जिंदगी के खिलाड़ी में दम है जब भी कोई बोल आए लोगों के शोरगुल से हटकर अपने आप पर ध्यान देना हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना बीच में कई दौर आएंगे जब तुम्हें कुछ गेंदे जांग पर हाथ पर दिल पर हिट करेगी वो जब जब तुम्हें हिट करे तब तब तुम अपने आप आपको एक छक्का लगाने के लिए तैयार करना वो जितना तुम्हें दर्द पहुंचाएंगे उतनी ताकत से तुम मेहनत करना और फिर अचानक से एक गेंद तुम्हें अपने मुंह पर आती हुई सी महसूस होगी और वो होगी लोगों का अचानक तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देने की लोगों का तुम्हारी बुराई फैलाने की लेकिन तुम सिर्फ गेंद पर नजरें गटाए रहोगे और अपने आप को पहले से ज्यादा ताकत अंदर से दोगे कि अगर इस गेंद का जवाब मैंने नहीं दिया तो ये आवाजें मेरे कान चीर देगी तब तुम अपनी पूरी मेहनत लगा के बल्ले को हवा में घुमाना और गेंद को जवाब मिल जाएगा गेंद सीधी तुम्हें बाहर में भेजने वालों के मुंह में जाकर गिरेगी और वो लोग सीमा रेखा के बाहर खड़े होंगे तब तक तुम्हारी जिंदगी के गेम में भारी रोमांच बन चुका होगा तुम पहले अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेटल करोगे और फिर उसी सिचुएशन पर तुम हावी हो जाओगे एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें बाहर में भेजने वाले जज नहीं कर पाएंगे कि तुम ऊपर हो या वो है हैं लेकिन तब तक तुम्हारे पास ओवर कम हो जाएंगे तभी तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी हर चुनौती की गेंद को आसमान में हवा खिलानी होगी जब तुम जिंदगी की हर गेंद का जवाब देते रहोगे तब तुम्हें भाड़ में भेजने वाले लोग अपना रास्ता बदलने लगेंगे क्योंकि तब तक शायद उनमें से कुछ लोग तो इस गेम के डिसीजन का अंदाजा भी लगाना चालू कर देंगे और जब मैच की आखिरी गेंद होगी तब तुम्हें जीत के लिए छह रन चाहिए होंगे जितनी ताकत तुमने अब तक के मैच बीच में लगाई उससे कई गुना ताकत कई गुना ताकत तुम्हें इस गेंद में लगानी होगी अब वो गेंद चाहे यॉर्कर हो फुल टॉस हो शॉर्ट पिच हो या फिर बाउंसर हो तुम्हें हर हाल में उस चुनौती का जवाब देना होगा तुम्हें भाड़ में भेजने वालों के गले सूख रहे होंगे चुनौती की गेंद अपना दिल थाम के बैठी होगी तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा होगा इस गेम का एम्पायर ऊपर वाला जो अब तक बैठ करके तुम्हें ईमान ईमानदारी से जज कर रहा था वो भी शायद इस सोच में होगा कि अगली गेंद पर एक हाथ की उंगली उठानी है या दोनों हाथ की उंगलियां तब जिंदगी की एक आखिरी चुनौती तुम्हारी तरफ आने की तैयारी कर रही होगी अगली चुनौती को पार कर दोगे तो तुम जिंदगी के वर्ल्ड कप में विजेता बन जाओगे और फिर वो बाहर में भेजने वालों की गेंद तुम्हारी तरफ हवा में छोड़ दी जाएगी जैसे जैसे वो गेंद तुम्हारी तरफ बढ़ेगी लोगों के मुंह खुलना शुरू हो जाएंगे एक सन्नाटा होगा भाड़ में भेजने वालों के मन में एक अजीब सी उथल फुथल होगी वो गेंद जैसे जैसे तुम्हारी तरफ बढ़ेगी धीमी से धीमी होती जाएगी तुम्हारी आंखों के सामने बहुत सारे नजारे आएंगे जब पहली बार लोगों ने तुम्हें भाड़ में भेजा था जब पहली बार तुम्हें जबरदस्ती इस जिंदगी के गेम की कसौटी पर उतार दिया गया था जब तुम्हें अपने आप के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था जब लोगों की भाड़ में भेज फेंकने वाली आवाज तुम्हें रात को सोने नहीं देती थी तुम अकेले रोते रहते थे और फिर जब तुमने दूसरों के तानों का जवाब बातों से नहीं काम से अपनी लगन से देना सीखा था तुमने पहला चौका लगाया था फिर पहला छक्का लगाया था लेकिन दुनिया ने फिर भी तुम्हें भाड़ में भेजना बंद नहीं किया तब तक वो गेंद तुम्हारे बल्ले को छू चुकी होगी उस गेंद पर तुम्हारी ताकत के साथ कुछ पसीने की बूंदे भी चिपक गई होगी तुमने उसको इतनी जोर से मारा कि तुम खुद ही अपनी जगह पर दो बार घूम गए वो हवा में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई होगी किसी को कुछ नहीं पता कि ये चुनौती भरी गेंद तुम्हें भाड़ में भेजने वाले कैच कर लेंगे या फिर फिर सफलता का छक्का लग जाएगा ऊपर वाला तब पूरे ब्रह्मांड को छोड़कर तुम्हारी तरफ देखने लगेगा क्योंकि उसके फैसले की घड़ी आ गई होगी कि तुम जिंदगी में विजेता बन पाओगे या नहीं नतीजा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी चुनौती की गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के बाद तुम्हारी जीत फिक्स हो जाएगी बस इतना पता है कि इस गेम का एम्पायर तुम्हें भाड़ में भेजने वाला नहीं है बल्कि खुद ऊपर वाला है जो किसी के भी पक्ष में नहीं होता वो तुम्हें तब ही विजेता बनाएगा जब तुम असल में बन जाओगे बस कभी विजेता बन जाओ तो एक बार जीत फिक्स के इस वीडियो के कमेंट में आकर वंदे मातरम लिख देना क्योंकि इसी पिच पर जिंदगी के मैच होंगे और नतीजे आएंगे जय हिंद वंदे मातरम जीत फिक्स